मोड़ी गढ़ो डर लाया मग भरुआ पन सैमा પૂતણ માગું મેલા માં ઠુકરાઈ રે સાહેબા મેલા રે ઠુકરાઈ રે સાહેબા નારી દે રે સાહેબા નારી દે રે યરિયામાં બેટી બાગું સાસરી નનવાણી રે સાહેબા पाहतो मोठ्यावर मोठ्या दोंगडी सोरी हारी वखीच येते हारी बिलडा तू आई रे मोटीर बिलडा तू आई पकी करे बिंद को वो करा ना पीटी मान अरे उनका बन्ना का हो हाँ, हाँ, हाँ, का हां बन्ना हां बन्ना का बिंद का कमन करे आ ये तो मोजड़िया दो बेतीरा बमर के मोची जीवती ये तो मोजड़िया दो बेतीरा बोलो न जाने जीवनो मारो gaya acha gaya dorida to je lawo jibna dorida to je lawo jibna Adira. गाड़ी लग जा लग जा देगा बन्नी મારી જામથી ભણજી હા ચોટીને બ્યાહ મંડી રહ્યો અરે ભાઈ બિંદ કો કી કરે જાન સડાણ જાન સડાણ જાન ચાલ સડાણ હા જાન સડાણ પણ બિંદ કો અલતી માંદી કો ઢીલ હા ગેલામાં ખૂટ્યો કાટ્યો વો જાવે કે માન લ્યો કાટો હા હા ઈ કો જાબ તો કરો બિંદ જાબ તો કરજી આ બિંદ के જાબ से होना अरे खिशाले बोकरे हाँ। अरे बींद पड़ने हाँ। अरे बींड कर बींदनी का डोवड़ो बांध बोकरे हाँ जी मखरी की गाले एक तो लोची कड़ी हाँ जी लोका कांटा इकड़ी गाले डोवड़ा कहाँ गाले भाई दो जू हाँ हाँ ये वो कौन है उठी हाँ, को लोई और उठी को लोई मिलियो लोई में लोई मिलियो तो कहीं ना लियो हो रहा हूँ तो तुझे मोगला पर हो गया बात नहीं है ਉਹ हाँ। ਤੋਂ तो लोई ਮੈਂ ਲੋਈ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਉਹ ਪੜਨਾ ਨਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਚੀ ਕੜੀ ਬੀਂਦਣੀ ਕਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਠਣੀ ਗੱਲ गल है हां और ਲਿਖਿਓ ਜਿਵੇਂ जी को लाखो लाखो ਲਕੋ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ का गल हाँ। काले का तो को पढ़ने जा हम्म। को लाख तो मान होवे हम्म को लाख तो मूर्त रे मूर्त रे और और मैंने कोडी का गल का हार में अतरी करते बिगड़ जावे हाँ। तो कोडी तो मान रे कोडी तो गिर जावे कोडी तो मान रे Sarah. हाथी सरमो लेवो लेवो जी थार की सुइया लेवो लेवो घर सोनी का चाल और मांदरे करावो ब्रावो लाडा का गुलाम गुलाम मंदा हो बींद के दाब से वजो वजो वो तो कासो न था आहा पाको तो अब यही बा अब कर के क्या बोलेगा आहा जाओ मारा इर्दी दो मदारा लवारा के दाओ છાતી મે છિલ્લા ટુકમા લો મોરમા કાટા ટુકમા નજી વિંદ કે જાવતો હે ગયો નવયો ઓ તો કાચો કાચો બાકો તો ભઈ હવે દેખા કરજો બાકો આહા જો મારા ઈરજી જો બજારા ખાતી રાખ ठीको खूंटो बिड़ा लेवो લેવો જી लाडा के माथा में खूंटो टुकावो ચુકાવો गोडो में खूंटिया टुकावो ચુકાજો हे जो बिंद के अब तो ओ कासो પાકો पाको કોણ तो बे वे અબ્બા હોવે छुजीरे नदिया नाव चला दूं दलका दो काम में टूटी ये नलका धोखा मेटू पानी का मैंने लाई लगा दियो अजी हाँ नलका धोखा मेर दियो छान पर होड़ा शेक दियो शेक दियो जिका नलका धोखा मेर दियो मेर दियो सुला बाजे खेत बुआ दियो बुआ दियो जिका नलका धोखा मेटू मेर दियो हां तेले में राई बुआ दियो बुआ दियो और कोंडा एटो ऊंट मुआ दियो बुआ दियो पंचे ने पकड़ से ला दियो ला दियो ये मींद के दाब तो है यो काचो काचो पाको सब भेरियो <laughs> हां भाम्या जी ना उड़ी बलाई कैला का मन करती जाए भाम्या जी ने उड़ी बलाई તું કમણગાળી उन्हें भी लाया देखो मैं तो हूद कुकड़ी हुलदारी मारवार कोई ने मोई दे अरे ये चौक में गाड़ी लाए गाड़ी में मेल दे तारा हूद कुकड़ी ने कुकड़ी दे और तू भी गाड़ी में बैठ जा बैठ जा जो गाड़ी में बटान ले आ रही आहा ये हूद कुकड़ी हुलदार की आ रही आ रही अजिन आई ऊंची टोड़ अजिन आई नीची टोड़ अरे गेला मा जा आका आहा गाड़ी को लगे दूरा दुरावे तो जीतन तो भूल गई अरे यही यही यही यही करवा लागी ये मायरे में खिलाओ जाओ बाण बैठिया तो गाड़ी बागे जाऊंगा भी जीप ताला न पड़े न पड़े तो ना था बींद के दाब तो है जो वो जो अब बींद को की करे जान सिटाओ जान के चल सिटाओ है अच्छा। वो बगड़ा उतारिया जान का मायने वाह राव जी ने पढ़ना बा होला मन होनो और होला मन होनो बत्तीस मन हो जो बत्तीस होनो दो हाथे पर नारिया नारिया का हमारा भाई है वो हागिल बदल भाई यो ना मांडा का मायने ब्याह में नेगा चारा में कल से बंदा बा अपनो अपनो लगावा हां जो एक तो बगड़ा तो ना ले साला में करना दे भाषा करना दे भाषा करना दे हां કવાય કન તો ઓને લેતા આલો તો માટામ લડાઈ ઝઘડો કરના કરનાજી અરે કને આપણા પેલી બીંદની નો પણ જાય પણ જાય તો કેશરીયા રાજકુમાર ને કયો એક બુડો ગાંવ એવો મોટો ગાંવ જી મેં કેશરીયા ભગવાન મંત્રી એ બોકરે કોને કયો કેશરીયા રાજકુમાર ગોટા કા ગુજરા ફાતા ખના જોગર ખના જોગર તો ગોટા ગુજરા ને ખઈ દેગા શિયાડે જા કેશરીયા રાજકુમાર આહા અર ખઈ દેગા ફાતા ખના દેવ દેખા દેખા ऊंचो नो जो आया जो बाजा करा बाजा इब्राहिम धावी जो पाचा करा फरा जाओ जाओ छावा आटा दिन चार चार दिन है आहा से चान वेली चला जा शाला जट सोईसी के थाने गोड़ा के सवा गास गास और सोई सोईसी पाए सवा तो रोटी खाना पीना और बींद का हत तो नहीं होता हां बगड़ा भी देख बोल जा बस न तो ये जी जान मसाला ना और न पाचा बगड़ा साला न साला आप तो मांडा में हुदा है तो आग मांडा का मेरे पर साला लगन आयो तो आपने कहा आप पढ़ना रे न पढ़ना रे हां आप भाषा के साथ न चला सोई સિપાઈ बगड़ा तो મુહતા વઈ भैया વઈ ગયો તો બિંદની કો બાપ જેલા માં અંજામ કરમ લ્યો હાજી માંડા વાળો માંડા વાળો પચાસ વાળી જેલ લાગે મેં ગાડી ગાડી નકા મળી उठा बगड़ा उठ गया हाँ कर भाई वो गाद कुनी का बाल नाम मिलियो लका मिलियो कबे जान आ रही थी कबे बींदनी का बाप को अंजिया मेरियो हम्म, हम्म। कह जी जान तो आजी हाँ आजी और फासे कोई की बाट मत मज्जा को और माँ का घोड़ा भी गाठ खा लियो खा लियो ऐसे काम करो हाँ, ये पुस्ता सारी गाछ गाड़ी बुद्धि जी मैं बात दी मेल जाओ मेल दियो कोई पाँच हजार मांगेगा पांच रुपये तो एक फूल दी तो न मिल सके बगड़ा तुम गाज तो आज मिला दीदी वाह वाह गाज तो बल्कि अरमानी की डेरे में वो जी थोड़ा गोटा गुजर आगे निकलिया निकलिया आगे गया तो खेल आओ खेल पर मिली आहा कार भाई जेला के माते या पोकुनी के माते बरी बरी कब बीजनी का बाप को अंजिया मेरियो भंडालो को जो जान के बाद अंजिया मेरियो वरियो कब बगड़ाऊ देख रे बोलिया हां जी जान तो आजी आजी और फासो कोई जी बाट बन जाको बन जाको केशो काम करो हाँ। मां घोड़ा भी पानी पीलियो पीलियो पी लियो पोको तो मोको करो खोल दियो खोल दियो वाह सिड लेकर फरा जाओ फरा जाओ रावला दार की जो जानता तो आजी पर पोफट डबरी डबरी के उठे गोटा को गुजर थोड़ा आगे निकला निकला आगे जाता जाता जगा के मैंने फसा थोड़ी बमन हकरिया अरे बाटे हकरिया बाटे हां कारबाई तो जेला के माते बाटे को नहीं बार पकारिया मजे के भाई राण का राव जी जान आ रही आ रही जो बिंदनी का बाप को मंडा लग गया मेरियो मेरियो कह जी दान तो आज जी आज जी और क्यों डू में की तो बाटे खाली थी खाली थी ये तो ले जाओ तक तो करा हां छोरा छोरी खाए छोरा छोरी खाए हाँ। रावण जाल की जो जान तो आज जी पर जीमरी हां अशाल तो बगड़ा जा रिया मजे और अब रान का राव जी जान अब सिद्धे देख अब सिद्धे न था वाह वाह खीट आठ भाग सिद्धे देगा वाह वाह हाँ मन भाई न देवी जी ठाकर खा गया चूरमो गुजर सट गया जान बात पकड़िए ठाकर ठाकर हट गुजर सट गया जान मुंदड़ा जी थारी जान में अब उड़ी निंगर थोर रोशिला थारी जान में उसकी रेशमी डोर डोर गगल लाडा जी थारी जान में गमके गुगर माल महारे अटिन तो बेन की दान सटरी सटरी और ठाट पाट जान सारी वाह वाह और आगा मांडा में की बात हो रही हो रही रहेगा मांडा में कौन कौन कहवा उनका हीरा कर बाई जी का रानी श्याम जी का हीरा में ताकेश्वरी के हां ही हाँ। देखा रानी श्याम जी हिरन बूदरी बिंदनी बूदरी देखा हाँ, देखा शाल डावरी ने देखा हां जी हां मन दगा किलाई जी ईरा हा हीरा क्यों हीरा उड़ियो हीराड़ो तने मोतिया मछली लाल ईरा ऊंची सरदा डागला डागला मैं तो गोडा पुरा हाद सरदे ने दियो बहुत को मुंडो जान का लाखो आहारे लाख लाख बताई दे दियो आतिफ दे तो मारा जान घटा कारी जान है मारा बींद की जान बींद की बींद की घटा कारी वाह उठे हीरा बात हो गई करानी हां Ah हाँ भाई जी बागा माया यो या नजारो मैं भूल తలుపుగా దియాత్తుగా దహన్ దేవ్ కమిందిరముండగా చేపల సింగోలి కమిందిరముండగా దేవాల దోమినరానికి తోడు కాళ్ళ కాకి भाई जी वागमान घरों में सुनियो यो कांकड़ा इन घरों में सुनियो यो जोड़ी जोड़ी का जने ला रियो ला रियो और नेक चार सुका ता रियो ना जी और हाजियों तो को बिंदु को आ रियो आ रियो कैसे न कहीं न गपड़ी हां हां 미나르디기 흔인가 뿌리 흔인가 뿌리 열라마케 우르다리오 뭐 우르다리오 둘로 군이고 뭐 먹으라고 먹으라 अरे नींद का अरे तो जान को जान को हाँ। अरे गाड़ी बेटे को उठते गाड़ी मेरे धूल उठते गाड़ी बेटे को तो रानी जाम से गई समाचार किया बैठेगा अरे भाई जी कहाँ ਅਰਾਈ ਰਾ ਕਾਕੜ ਬੰਦ ਜਾਤ ਨਾ ਦਿਖ ਜਾਈ ਢੋਲੜਾ ਓਏ कर्ज धंदा भाऊ ध्रुव का देहत का दहन रामा राहत कुमार के मंदिर में मिलेगा चाहबलाल सिंगोली के मंदिर में मिलेगा शिव जी महाराज के मंदिर में मिलेगा जवाला देव दरबार की <coughs> हाँ, अरे हीरा भागरा भाग खूब बंदा बच्चा मजे हीरा तो माया का बन्या का का पे बड़ बेवड़ा पिला रे मुखरे मजे बड़ा बड़ा खूब हीरा लेती बड़ बेवड़ा आज हाँ और हारी सोरी ने बेली कर ली थी मजे मुंह सोरी को आता उनका पर हां मुंह सोरी को आता उनका पर खांदा पे अरे बसमा हीरा मजे छो दोषी बन गई आहा अरज का गाड़ी रह की नहीं मजे पे मिला बोर की नहीं वाह हारी सोरी के के और लार के मन टांग लियो मजे सोरी तो पाकाट में ठीक नहीं बन गई आहा सोरी तो कम बंदा बजा रही वाह नींद बता दियो हमारा भाई जी को हां जी का गवा में नौ को फूल लगी बड़े माला माला तो सोई सी भाई ऊंचा जो हाँ। हीरा का मेलता मेलता ऊंचा जो आपको हीरो को ऊंचा जो हां वाह कौन से हां भाई हाँ। जी भाई जी बोल के मर मर गई रानी जामती कर दे हेठो उतारियो उतारियो उतार मैंने तो वाली हाथ हाथ जो मैंने हथो का आदमी ने दसियो बाबा कारा हीरा रहयो कल कुण बंदायो कुण बंदायो भाई जी बगड़ा उताया दान मन ऊंचा आहा हाँ। वो बंदाया बजी अरे हीरो जान का ही दो जानिया दो तो ही खर्चा पड़ दिया ये अपना का हां ये तेरे बाटे सैन्या बदाई जे तेरे बाटे मारे मारे और तू मारा बींद कामी जाजे हाजी ऊ मेले जी हारे तारे रे जाय राग दे रुपया ना रुपया दे सो के रुपया राग तो नादा हीरा जी खमार के बाजी हाँ यो बुलावणी सी नांद लेई हां नांद नांद हां अरे वो खल बंदा बा जा रही जा रही खशाल जा रही देख देखो खशाल जा हां हां मान गई दो हीरा अपना का खसा पड़ दिया भर दिया जो तो राग लिया रानी जाम थी बींद बींदनी राख लिया बाजी हाँ और वो बींद मेली जरी पे आपने रीत रही हाँ बाजी जो बुढ़ी सी नान लेगी वाह जो जेला में की थी दारी सोरी हां शो जीत का जारी रक्षो गावली हां जय मंगल हो तो हाथी ला जो हाथ के वो दे आजो जी जय मंगल हो तो हाथी ला जो हाथ के वो दे ಅಶ್ಯಾಲೆ ಸೂರ್ಯ ಕಡುಬಿಂದ कल्स के महीना साइबराला बोन की तरफ का दियात का दहा साइबरा का तेजाजी राजकुमार का मंदिर मंडेगा चापदास सिंह वाली का मंदिर मंडेगा ठाकुर बाबा का मंदिर मंडेगा जब वाला दुहार के श्याम की